चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ये तो पदार्थ और सर्वभूत स्थितम जो माम भजती कत्वस्थित सर्वथा वर्तमानोपी सयोगी मई वर्तते ये है एकत्व असी पदार्थ है माने दोनों एक ही हैं ये बताने वाला ये गीता गीता की भक्ति कैसे ज्ञान दे देती है और ज्ञान भक्ति कैसे देता है ईश्वर नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठती सर्वभूता ने यंत्रारूढ़ा निमाया तमेव शरण गर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया इसका नाम है क्या और सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम हम्म। बचा ये ज्ञान देता है देखो भक्ति सर्वगुह्यतमम भूया मन मना भवद भक्तो मदिया जी नमस्कुर फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण भज अब कल अब कल इसी श्लोक से संपूर्ण करेंगे के अंत में कुछ घोषणा की जैसे अभ्येश्यते जन्मम संवाद आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टि मैं पक्का हस्ताक्षर करता हूं किसी मैं मंदिर ये मेरा दृढ़ निश्चय है क्या ये मेरा और मेरे मित्र उनका धर्म यह संवाद है इसमें कहीं धर्म छूटा नहीं है पेतम धर्म्यम इस संवाद का एक तो विवाद होता है आप जानते हैं एक विवाद होता है एक संवाद होता है तो गीता मित्र मित्र का विवाद नहीं है का मित्र मित्र का संवाद है माने दोनों का मत एक है दोनों की राय एक है जो कृष्ण की राय हो अर्जुन की राय दोनों का मत मिल गया है तो बोले इसका कोई अध्ययन करे आओ हाँ, गीता पढ़ो ये काम की बात है आपको आपका ज्ञान यज्ञ होगा जो यज्ञ होता है तो ज्ञान नहीं होता और जो ज्ञान होता है तो यज्ञ नहीं होता ज्ञान बुद्धि में होता है और यज्ञ कर्म से होता है गीता का आप अध्ययन करेंगे तो ज्ञान यज्ञ होगा पाठ होगा तो तो क्रिया होगी ज्ञान होगा और उससे जो बुद्धि में भगवान आएंगे वो ज्ञान होगा तो गीता का अध्ययन अध्यापन एक ऐसा कर्म है जो यज्ञ है और एक ऐसा शास्त्र है गीता जो सिर्फ सिद्ध वस्तु का ज्ञान देती है परमात्मा का ज्ञान हो और यज्ञ हो यज्ञ हो और ज्ञान हो दोनों वस्तु गीता से चलती है जो यज्ञ जागादी में रथ होते हैं उनकी ज्ञान में रुचि नहीं और जो वेदांति हो जाते हैं ज्ञान में जिनकी वृद्धि हो जाती है वो कर्म में रुचि नहीं रखते हैं परंतु गीता ऐसी है जो एक साथ ज्ञान और यज्ञ दोनों को हमारे जीवन में लाती है परमात्मा का ज्ञान भी हो गए और यज्ञ यज्ञ होता है प्राण आकार उत्तर अपने प्राण जो है वो लोगों को देते हैं ब्राह्मण को देते हैं पहरेदार को देते हैं सामग्री लाने वाले को देते हैं काम करने वाले को देते हैं यज्ञ में कातुल करने के लिए वितरण होता है एकत्र की हुई जो सामग्री है जो धन है जो पूंजी है उसका वितरण होता है क्रिया पवित्र होने से मनुष्य पवित्र होता है उद्देश्य पवित्र होने से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जम परम पूज्यम मदभक्ते स्वविधास्यति बताया कि खास करके जो हमारे भक्त हैं उनको इसका उपदेश करना अभिमान करो वर्णन करो आज कैसा मौसम है इसका वर्णन करोगे तो क्या मिलेगा तुम ये हम दोनों का परम ये संवाद है तो इसको भक्तों को बताओ भक्तों को बतावेंगे तो क्या होगा भक्ति मई पराम कृत्वा भक्तों से बातचीत करोगे गीता सुनाओगे भक्तों को तो तुम्हारे हृदय में भक्ति आ जाएगी तुम स्वयं भक्त हो जाए तो एक तो ज्ञान यज्ञ न हम इष्ट जो इसका अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे प्रसन्न कर लेगा ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है गीता के अध्ययन से और ईश्वर की भक्ति आती है गीता भक्तों को सुनाने से एक बात भगवान ने ऐसी कही उसके बराबर की बात कहीं सुनने को तो कठिनाई से कठिनता से मिले बड़ी मुश्किल से मिले वो बात क्या कही न तो तस्मान मनुष्यु कश्चिन में प्रियकृतम प्रियकृतर भविता न तो में तस्मान अन्य प्रियतरो अद्भुत बात कही भगवान ने कि जो गीता का अध्ययन और वर्णन करता है मनुष्य समग्र मनुष्य जाति में उससे बड़ा मेरा प्रिय करने वाला और कोई नहीं न तो तस्मान मनुष्य को कश्चिन में प्रियकृत प्रियकृत प्रियकृत था तो जो गीता का अध्ययन कर रहा है और जो भक्तों को गीता सुना रहा है उससे अधिक प्यारा दुनिया में मनुष्य जाति में मेरा कोई नहीं है इस समय नहीं है कि नहीं ये देखो आश्चर्य भविता नच में तस्मात अन्य प्रियतरो हुई इस पृथ्वी पर इस धरती के पर्दे पर उससे अधिक मेरा प्यारा कभी पूरी होगा ही नहीं सबसे अधिक प्यारा वो है जो हमारे दिव्य संगीत युद्ध भूमि में उदय होने वाला संगीत स्वयं भगवान के मुख से निकलने वाला संगीत बिना साज का संगीत न तबला है न है न है न है बिना साज का संगीत बिना बांसुरी का बिना बांसुरी का ये संगीत ये हमारा संगीत ये हमारा संवाद स्वीकार इसको अपने जीवन में धारण करो इसको गाओ इसको बताओ भगवान की प्रतिज्ञा है उससे बढ़कर मेरा प्यारा और कोई गीता में ऐसी क्या बात है भगवान को गीता को पढ़ने वाला पढ़ाने वाला उसका श्रवण मनन करने वाला इतना प्यारा क्यों है वो एक बहुत बड़ा आप दान कर है यज्ञ है और यज्ञ में कुछ दिया जाता है और कुछ दिया जाता है तो दोनों होता है जैसे अग्नि में आहुति डालते हैं फिर तो देना हो गया और वो वेद मंत्र के उच्चारण के समय आहुति देने के समय तो पवित्रता के समय अग्नि की जो ज्योति अपने शरीर में प्रविष्ट होती है वो तो हमें स्वास्थ्य देती है शुद्ध चरित्र देती है पवित्र मन देती है हमारी बुद्धि को विकसित करती है इसको यज्ञ बोलते हैं तो यज्ञ में एक चीज और होती है उस पर हम जानते कोई न कोई नियम ग्रहण करना पड़ता है ऐसे स्नान करेंगे संध्या वंदन करेंगे ऐसा वस्त्र धारण करके जैसे भूमि में बैठेंगे ऐसा भोजन करेंगे ऐसे शयन करेंगे एक नियम धारण करना पड़ता है तो उसमें त्याग बहुत होता है उत्सर्ग नियम धारण करना होता है और जब हमारे जीवन में नियम आता है तो हमारे जीवन में ऐसा बल आत्मबल की वृद्धि होती है कि उससे हम किसी भी संकट का सामना नहीं कर सकते नायब आत्मा बल बलहीने न दिया जिसके जीवन में आत्मबल नहीं है उसको आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता तो नियम पालन में जो कष्ट सह के भी यदि कष्ट कोई आ जाए नीचे रहना पड़े रह जाए गर्मी सहनी पड़े तरह ले ठंड सहनी पड़े सह तरह जो कष्ट सहन करके भी अपने नियम का पालन करता है उसके जीवन में सहिष्णुता के कारण धर्म की वृद्धि होती है तो हमारे महाराज कहा करते थे सिद्धि क्या है किसी ने पूछा महाराज सिद्धि क्या होती है सीधी साधी भाषा में बोले बर्दाश्त करने का नाम सृष्टि है भूख सहलो अन्न की सिद्धि हो जाए बिना किसी संपदा के रह लो संपदा अपने आप आने लगे एक बार विचारों से मुक्त हो जाओ अपने संकल्पों से संस्कारों से विचारों से मुक्त हो तो और आकाश में जो बड़े बड़े महापुरुषों के विचार फैले हुए हैं वो हमारे हृदय में आने लगे अपने जीवन का जो विकास होता है वो सहिष्णुता से होता है पीड़ोद्भवास से होता है जितनी सिद्धि निकलती है वो कष्ट सहने से निकलती है जो लोग बार बार जेल में गए वो मंत्री हो गए वो राष्ट्रपति जिन्होंने तपस्या की वे सिद्ध एक वचन है कैटो तो साहब जी रे तन सावन हे तत्वन दातुन से बोलते हैं दांत साफ करने की दातुन होती है तो उसको बोलते हैं रे तन सावन संप्रविष्ट विवरम निशंकमंती कुरु ईदाम तैर्विहिताम मनाग घटमना माहु सहस्वागतम हे दातुन तुम निशंक होकर मुंह में जाओ और जिनकी रक्षा करने के लिए जिनको उज्जवल करने के लिए तुमको में प्रवेश कर रही हो वो तुमको बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे पूछ लेंगे तो, तो उसको लोके शोधन बोधन प्रणयन के के न काम काम कष्टा कष्टाम हो रहोगत मिदम पीड़ोद्भवास्त है जो लोग शोधन करना चाहते हैं साफ साफ करना चाहते हैं शोधन और जो बोधन करना चाहते हैं उनको न जाने क्या क्या कष्ट सहन करना पड़ता है ये एकांत सत्य है कि जितनी भी सिद्धि जीवन में आती है वो सहन करने से आती है इसी से यज्ञ में जो नियम दिया जाता है सोने का खाने का पीने का नहाने का कष्ट उठाने का उसके जीवन में बहुत बड़ी सिद्धि सत्य में स्थिति रूप सिद्धि प्राप्त होती है सत्य में उसकी स्थिति हो जाती है तो ये ज्ञान ज्ञान जगह है इसकी विशेषता क्या है ये आपके जीवन में से दो चीज निकालना चाहते हैं आप देखो कृष्ण पूछते हैं गीता सुनाकर कच्चित अज्ञान सम्मोह पुनः नष्ट से धनंजया हे अर्जुन क्या तुम्हारा अज्ञान सम्मोह नष्ट हुआ गीता क्या करती है हमारे जीवन में जो भूल है उसको बता देती है अज्ञान सम्मोह का सीधा अर्थ है भूल ऐसे पूछे हुए दूसरी चीज पर आप ध्यान दें असो अशोच्यान वशोचस्व प्रज्ञावादाच नान शोचित अर्हसी अहम ते जो मोक्षयिष्यामी आशुच श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अर्जुन तुम अगले जन्म में एक श्रेष्ठ पुरुष बनना तो कहते हैं इसी जन्म में तुम श्रेष्ठ पुरुष हो जाओ हाँ, स्वर्ग में जाके देवता बनना ऐसा नहीं कहते हैं कहते हैं इसी जीवन में इसी जीवन में तुम देवता हो जाओ तो हमारे जीवन में शोक और भोग छाए हुए हैं शोक क्या होता है जब हम बीती हुई बातों को अपने मन में ज्यादा जोड़ देते हैं तो वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी आपके पास बहुत संपदा थी अच्छी थी लेकिन अब नहीं है तो उस अच्छी संपदा की याद करो तो दुख होगा कोई अच्छा संबंधी था आपका आपने कहा उसकी याद करोगे दुख होगा तो पीछे छूटी हुई जो अच्छाइयां हैं उनको याद करके भी शोक होता है और पीछे की हुई जो बुराइयां हैं उनको याद करके भी शोक होता है शोक माने भूत वृत्ति जो हमारे वर्तमान को हित लगा दे उस तरह की बात तो आप सुनते हो एक सज्जन की श्रीमती बह गई थी तीस वर्ष बाद हमारे साथ भोजन करने बैठे और उसकी आंख से झप झप आंसू गिरने लगे क्या भोजन तो बहुत बढ़िया है पर वो परसने वाला कहा किसी को बोलते हैं भूत लगना उनको भूत लगा हुआ था बीती हुई बात उनके वर्तमान पर छाई हुई थी वर्तमान का सुख उनको नहीं मालूम पड़ता था भूत वर्तमान को अभिभूत कर देता था तो भूत वृत्ति जो है शोक जो है वो भूत वृत्ति है गई बातों को गई बातों को याद कर करके हमारे चित्त पर छा जाता है महाभारत के अनुसार ये कोई उत्तम पुरुष का लक्षण है और जो भय लगा रहता है तो भय भविष्य होती है भविष्य होती है आगे कहीं ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए ये भी हमारा एक मानसिक दोष है तो भय आने वाला है तो साधना करने की तैयारी करो नहीं आवेगा तो ठीक है और आवेगा तो उसका सामने कैसे सामना कैसे करना है भय का सामना करो चिंता मत करो भय आते ही धड़कन बढ़ जाती है और चिंता आते ही सिर में दर्द होने लगता है तो भय भी वर्तमान पर वर्तमान पर जब भविष्य छा जाता है तब इस समय जो हमारे पास है वो दब जाता है भविष्य भी हमारे वर्तमान को दबा देता है और वो वो क्या है कि तो वर्तमान में जो हमारे पास है को बना रहे हो साथ करें जैसे हमारी उम्र चलती है वैसे वो साथ करें तो महाराज जी काले बाप तो साथ चलेंगे नहीं तो ये चम चम चमकते हुए दांत भी साथ नहीं देंगे ये चमकना चेहरा भी साथ नहीं धन दौलत भी आती जाती रहती है बढ़ती घटती रहती है ये भी साथ नहीं है तो जो जैसा है भूत बीत गया उसको बीत गया है भविष्य आने वाला है उसको आने दो और वर्तमान में कहीं अटको मत वो मतलब शोक माने पांव का पीछे फिसलना है माने पांव का आगे फिसलना और वो हमारे वर्तमान के दलदल में फंस जाना तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी उन्नति रुक जाएगी इसलिए शोक है और मोह से मुक्त करने वाली है ये गीता शोक मोह भया भाव ये गीता क्या है आओ सुनो यश्याम वै श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते संसह शोक मोह भयापा ये मानसिक है वो शोक भी मन में है भय भी मन में है मोह भी मन में है तो जहां जो चीज होती है वहां से जब वो हटाई जाए तब तो हट जाएगी और यदि कहो कि इस कारण शोक हुआ हम कारण को हटावेंगे रोग के कारण शोक हुआ हम रोग को हटावेंगे तो रोग तो एक जाएगा दूसरा आवेगा जिंदगी में आता ही रहेगा कस्य एकांतम सुखो पदतम तो दुखम तो एकांत तो होगा तो निमित्त को दूर करके आप शोक मुक्त नहीं हो सकते निमित्त को दूर करके आप मोह मुक्त नहीं हो सकते निमित्त को दूर करके आप भय मुक्त नहीं हो सकते आप अपने मन को अपने हृदय को अपने अंतकरण को ऐसा बनाइए कि उसमें शोक मोह भय नहीं आ रहा आइए गीता में प्रवेश कीजिए गतासु अगतासु नाम शोधन जो मर गया उसके लिए शोक नहीं करना क्योंकि वो तो मर ही गया और जो जिंदा है उसके लिए शोक मत करना क्योंकि वो तो जिंदा ही है गतासून अगतासून चिंता के लिए भी शोक नहीं जीवित के लिए भी शोक नहीं और मृत के लिए भी शोक नहीं अपने हृदय में एक सामंजस्य आना चाहिए गीता आपको शोक से मुक्ति करती है ये मरने पर होने वाली मुक्ति नहीं है ये मरने पर मिलने वाला स्वर्ग नहीं है ये अगले जन्म में मिलने वाला सुख नहीं है गीता तो इसी समय आपको सुखी करने के लिए इसी समय सुखी करने के लिए तो ये भगवती गीता हमारे प्राण के लिए अवतीर्ण हुई है शोक संविघ्न मानस अर्जुन शोकग्रस्त धर्म संपूर्ण चेता हो गया भगवान के विराट रूप को देख करके भयोद्विग्न हो गया था भय न तब तो का मनो में भयोद्विग्न हो गया था परंतु ये गीता ने भगवान के इस संगीत में दिव्य संगीत में भगवती गीता ने उसके हृदय से शोक भय हो हिंदू का ये तो गीता अदृष्ट उपकार करने के लिए नहीं करने के बाद आंखों से उजल क्या होता है उसके लिए गीता का अवतरण नहीं हुआ है गीता भगवती आई है हमको इसी जन्म में इसी जीवन में मां अपने बच्चे को तत्काल सुखी करना चाहती है मां का स्वभाव रोता हुआ बच्चा हो उस पर ज्यादा ध्यान देती है रोते हुए अर्जुन के लिए गीता होती महाभारत में जो गायत्री है महाभारत की गायत्री अलग है और वेद की गायत्री अलग है गायत्री मंत्र चारों वेदों में आता है गायत्रम त्रायते गायत्री वो है जो गाने वाले की जप करने वाले की पाठ करने वाले की रक्षा करे उसका नाम है गायत्री गायत्रम त्रायते पालन करती है रक्षा करती है अनिष्ट से बचाती है और इष्ट दान करती है प्रायते में दो स्वयं पालन है रक्षा और पालन दोनों तो वेद की गायत्री है वो भी ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है और ईश्वर का दर्शन करती तो है कहाँ है तो ये रही हमारी बुद्धि दिया बदल रही है वृद्धि पर वृद्धि वृद्धि पर वृद्धि बुद्धि पर बुद्धि आती जा रही है और मैं देख रहा पर बुद्धि को बुद्धि के और हमारे बीच में वो कौन बैठा है जो बुद्धि का संचालन करता है जो बुद्धि को प्रेरणा देता है आप बुद्धि के सामने जो कुछ है विषय उसकी तरफ ध्यान न रखें जो आपके सामने है और बुद्धि के पीछे बैठकर बुद्धि को चला रहा है उसको देखिए यो यो न प्रचोदया अभी अभी हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाला जो है उसको उसका दर्शन करो आप कंगन को आरसी क्या ईश्वर शीशे में देखने की वस्तु नहीं है ईश्वर हमारे सामने रहकर और हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है बुद्धि का संचालन कर रहा है ये प्रेरणा करे ऐसी प्रार्थना केवल प्रार्थना ही अर्थ नहीं होता है उसका अर्थ प्रेरयक भी होता है एक पंचमोलकार छंदो मात्र गोचरा ये पंचम लकार है इसी समय हमारी बुद्धि का संचालन कर रहा है और दिल के आईने में है तस्वीरें याद जब जरा गर्दन झुकाई देख तो अद्भुत हुआ ना मरने के बाद वाली बात नहीं स्वर्ग में जाने वाली बात नहीं वैकुंठ में जाने वाली बात नहीं मरकर मुक्त होने वाली बात नहीं अभी अभी नगद बात तो गीता मां सुकर मां सुकर लेकर आई तो मां सुकर लेकर आई तो एक बात तो बताई कि जीव में ऐसे गुण आ जाए कि वो शोक मुक्त हो जाए भाग पर एक दृष्टिदा मां सुचा संपदम दैवी अभिजातोषी सांकव अर्जुन तुम्हें दैवी संपत्ति मिली है दैवी संपदा में शोक के लिए स्थान नहीं है अभयम सप्तन सुदृढ़ ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ तुम्हारे अंदर तो सदगुण ही सदगुण है दैवी संपदा दिव्य संपत्ति संपत्ति दैव संपत्ति तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर आ चुकी है अब शोक मत करो मनुष्य का जो मन है जिससे मालूम पड़ता है वो जैसे कोई दूस हो और बाहर से अपमानित होते चिट के घर में हैं तो कुछ चिड़चिड़ाया हुआ होता है तो ऐसे जो लोग नरक से या दुख भोग करके आते हैं वो कुछ चिड़चिड़ाए होते हैं और सबके ऊपर बर्फ पड़ते हैं टूट पड़ते हैं और मैं चोट तो लगी है पहाड़ में और घर की सील फोड़ना चाहते हैं पिट गया है दुखी पहले बहुत रहे हैं अब घर में आए तो उस दुख का बदला लेना चाहते हैं तो नारायण ये भागवत का कहना है कि मन ये मनुष्य से गुणवरूपा पाए संतति कोई के गोदाम में से आवे तो कुछ रेसे लगे होंगे कोई कोयले के गोदाम में से आवे तो कोयले के कुछ कण लगे होंगे कोई दूध भी दही के घर में से आता हो तो कुछ गंध उसके शरीर में से आएगी तो ये जो संसार में दुखी हैं क्रोधी हैं कामी हैं जो भी हैं वो कहीं गंदी जगह से आया उनका मन कहीं गंदी जगह से आया अच्छा जी अभी जाएंगे कहा मन पूर्व रूपाणी संसति भविष्यत राजेन्द्र आगे कहा जाएंगे जरा देखो कैसे प्रेम से पांव रख रहे हैं कैसे प्रेम से देख रहे हैं कैसे प्रेम से बोल रहे हैं कहीं अपने प्रिय के पास जा रहे हैं घबरा के बेमन जा रहे हैं पांव पटकते हुए हैं और इधर उधर देखते हुए कि भाई कहीं अप्रिय स्थान पर जा रहे हैं तो जो उत्तम स्थान पर जाने वाला होता है बुद्ध के जीवन में इन चर्चाओं का दस चर्चाओं का वर्णन है कामी पुरुष की चाल कैसी होती है कृष्णा वाले पुरुष की चाल कैसे होती है क्रोध वाले पुरुष की चाल कैसे होती है चिंता वाले पुरुष की जान कैसे होती है और इसका भी पता चल जाता है कि आगे ये मुक्त होंगे कि नहीं तथाच तो न भविष्य अब इनका पुनर्जन्म नहीं होगा और अब ये लोकांतर में नहीं जाएंगे निर्वासन जीवन मुक्त हो जाएंगे आप देख लो अपने आप पहचान कर लो अपनी आपकी वासना अग्नि होती है तब आप सुखी होते हैं कि वासना निवृत्त होती है तब सुखी होते हैं जो वासना पूरी होने से सुखी होते हैं उन्हें संसार में अभी रहना है और जो वासना की निवृत्ति से सुखी होते हैं वो संसार से मुक्त होने वाले हैं उनको देख करके इसका पता चल जाता है तो महाभारत में जो गायत्री है शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढाम् आविशन्ति न महाभारत की गायत्री ये है कि हजार बार शोकग्रस्त होना और हजार बार भयग्रस्त होना ये मूढ़ पुरुष का लक्षण दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम ये बारंबार शोक और भय मूढ़ के जीवन में आते हैं जो ज्ञानी है समझदार है उसके जीवन में नहीं आते हैं तो भगवान ने एक ओर को बताया कि यदि हमारे जीवन में सद्गुण आ जाए दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आदवम अहिंसा सत्यम अस्तेयम त्याग शांति अपैसुनम यदि हमारे जीवन में सदगुण आ जाए तो जब सदगुण से हमारा हृदय भर जाएगा तो शोक और मोह के लिए भय के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा ये स्वम पदार्थ की प्रधानता से दिव्य सदगुणों को धारण करने से हमारा जीवन शोक मुक्त हो जाएगा ये एक पद्धति है और दूसरी पद्धति है तत्पदार्थ तत्पदवाच्यार्थ भगवान की शरण में जाओ अहम त्वा सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुखा अर्जुन मेरे प्यारे मित्र मेरे प्यारे सुखा मैं मेरे हृदय के प्यारे वासी सुनो मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताता हूं अपना हृदय अपना हृदय तुमको देता हूं गीता में हृदय का आज मैं तुम्हें गीता का उपदेश नहीं कर रहा हूं अपना हृदय दे रहा हूं तुमको यही मेरे हृदय की पूंजी है यही मेरा सर्वस्व है हमारे छाती के भीतर यही छिपा हुआ सर्वस्व है परंतु तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर वो हमारा सर्वस्व अपने आप ही प्रकट हो गया मैं तुम्हें अपना सर्वस्व दे रहा हूं मामेकम शरण भजो अहम कृत्वा सर्वकालेभ्यो मोक्षयिष्यामि शोक करो भाई शोक के बहुत सारे निमित्त हैं बोले मैं छुड़ा शोक का निमित्त है पाप पाप से दुख की उत्पत्ति होती है जी ने कहा आत्मा वैवस्वत होना हो हमारे हृदय में धर्मराज रहते हैं तीन चेत अभिवादस्ते यदि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा तुम्हारा नहीं है विवाद नहीं है तो मां गंगा माँ कुरु गवाह तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है सब तीर्थों का तीर्थ तुम्हारे हृदय में है हृदय में बैठे हुए धर्मराज तुम पर संतुष्ट से बताया जब काम करते हैं तो कैसे समझें ये अच्छा है कि बुरा जब कर्म पूर्वतो परितोषोत्तरात्मन तत्प्रयत्न कुरीत विपरीतम तो वर्जयेत आत्मतुष्टि और आत्मग्लानी पर ध्यान रखो यदि बुरे काम करोगे तो आत्मग्लानी जरूर होगी दुख जरूर होगी और यदि आत्मतुष्टि से भरकर काम करोगे तो तुम उसी समय उस सत्कर्म का फल भोगते रहोगे सत्कर्म तुरंत सुख देता है आत्मा तो ठीक है आप सोच लो कि आप जब एक प्यासे हो एक गिलास पानी पिलाते हो तो आपके मन में संतोष होता है कि और जब आप किसी को दुष्कार देते हो तो पीछे आपके मन में खिलानी होती है कि नहीं आप रोते हुए को कभी हटा देते हैं एक मनहूस को यदि तुम मुस्कान दे दो एक दुखी को एक बार दुखी कर दो बड़ा भारी दान है बड़ा भारी दान तो ये गीता स्वर्ग नरक की प्रधानता से वर्णन करने वाली नहीं है इसमें वैकुंठ गमन अथवा मरने के बाद मुक्त होना प्रधान नहीं है ये तो अर्जुन के जीवन को स्त्री के जीवन को इसी समय परमानंद देने वाली है ये भगवती गीता ये आनंद बांटती हुई रस बांटती हुई ज्ञान बांटती हुई जीवन बांटती हुई ये संगीत की धारा प्रभावित हो रही है गीता का कहना है तुम्हारे हृदय में ईश्वर है गीता में नहीं बात तुम्हारे हृदय में ईश्वर है और ईश्वर क्या है तो वो पूर्ण गंध है तुम्हारे हृदय में से एक सौरभ एक सुगंध मह मह मह मह सुगंध फैल रही है रसो अब सुखम से ईश्वर क्या है रस तुम्हारे हृदय में एक माधुर्य एक माधुरी है एक रस है उसके फुहारे छूट रहे हैं तुम्हारे जीवन तुम्हारे हृदय में तुम्हारे जीवन में एक सौंदर्य है और वो प्रस्फुटित हो रहा है तुम्हारे हृदय में एक सौकुमार्य है बड़ा कोमल है हृदय तुम्हारा बड़ा सुकुमार है दया से प्रेम से करुणा से वात्सल्य से भरा हुआ है उसको निकलने दो तुम्हारे हृदय में एक संगीत है शब्द है शब्द खे पौरुषम दृष्टि तुम्हारे हृदय में एक बड़ा भारी पौरुष एक बड़ी बड़ी भारी शक्ति जिसके द्वारा चाहो चाहे तो तुम दुनिया को उलट परख सकते हो वो शक्ति तुम्हारे हृदय में बहुत बसता है तुम सुगंध के और माधुर्य के सौंदर्य के सौकुमार्य के सौस्वर्य के एकमात्र आश्रय हो तुम्हारे जीवन से आनंद की रस की मधु की गंगा प्रवाहित होना चाहिए होनी चाहिए मधु वातारित आए थे मधुप शरण सिंधरा ما تدري نفس